कृपा से ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से हमने आज उत्तम कार्यों का संपादन किया आप प्रतिदिन सभी पाठों में उस पाठ का मुख्य विषय है लिखते जाइए और उसको सुसज्जित कर लीजिए अंत के भाग में मौखिक परीक्षा अथवा उपलब्धि आपने क्या कुछ सीखा इस कार्य को आप अच्छे प्रकार से कर सकें इसको ध्यान में रखिए आप यदि इतना भी कार्य हम न करें तो प्राय परिणाम ये होगा कि आप दस बार भाग लेकर के भी विशेष बुद्धि का विकास नहीं कर सकेंगे यदि विद्यार्थी से न पूछा जावे उसकी परीक्षा न ली जावे बार बार मौखिक लिखित तो विद्यार्थी का विकास होता ही प्राय व्यक्ति और अधिकतर भारत का व्यक्ति आलसी प्रमादी बिल्कुल काम से बचना चाहता है जहां हम सुनते हैं जापान की बातें और वो कहां था वो देश विनाश को प्राप्त हो गया था और कहां आज चोटी के देशों में आगे खड़ा हो गया बालक बूढ़ा युवा माताएं बहने बताते हैं अत्यंत देशभक्त अत्यंत पुरुषार्थ अत्यंत विज्ञान की खोज उपलब्धियां विकास के साधन जुटाता है और धन संपत्ति से मालामाल होता चला गया है और ये भारत की ठीक विपरीत अवस्था कुछ नहीं करना धरना बिना किए और कराए कुछ मिल जाए तो अच्छा है और करने से यदि मिले तो महापाप है ये भारतीयों का दिमाग आप यदि इन्हीं पद्धतियों को अपनाएंगे मानेंगे तो कोई विकास होने वाला नहीं देखता है क्या देखता होगा ये पाठ क्यों पढ़ाते हैं ये सूत्र क्यों पढ़ाते हैं वो कहते चलो पढ़ा भी ले तो सुनते क्यों हैं और सुन भी लिया तो परीक्षा तो नहीं लेनी चाहिए दक्षिण भारत में एक बार शिक्षण शिविर चलाया चलाते रहते हैं वैसे प्रतिवर्ष लगभग तो लोगों से पूछा गया कि भाई ये बताओ आपके अंत के दिनों में परीक्षा भी ले ली जाए मौखिक लिखित तो प्राय घबरा गए लोग तो आचार्य जी से मैंने पूछा परीक्षा लेनी है कहती तो सारे डर गए और डरने का अर्थ ये होता है कि दूसरे तीसरे दिन सारे खिसक जाए आप अपने घरों गांव में अच्छा फरीदाबाद वाले दिल्ली वाले तो खिसक नहीं सकते क्यों आरक्षण और इतनी दूर जाएंगे कहीं अब तो गुजरात के जो आसपास के हैं सरीश जी जो हैं ये सरक सकते हैं बड़ौदा की ओर तो उनको कहा गया कि कोई बात नहीं परीक्षा नहीं देना तो शांति मिली उनको अच्छा आपके हृदय की बात मैं जानना चाहता हूं आपकी लिखित और मौखिक परीक्षा ले तो देने के लिए तैयार हैं आप अच्छा आप माताओं में हाथ खड़ा करेंगे अच्छा लगभग मतलब ठीक है और पुरुषों में से हाथ खड़ा करेंगे आप अच्छा एक बात है कई बार कई नहीं से हाथ खड़ा कर लेते हैं जब उसको ये पूछे तुमने क्यों हाथ खड़ा किया कि और कर रहे थे इसलिए कर दिया तो अब तक हमने इतना विचार किया है कि लिखित का तो अभी विचार नहीं किया पर मौखिक का तो प्राय करते हैं कम से कम मौखिक तो होनी चाहिए एक तो बोलने का गुण खड़ा होने का गुण ये आता है व्यक्ति में अपनी बात कहने का गुण विशेषता जो उसके हृदय में है वो पांच दस व्यक्ति और बीस तीस पचास के सामने खड़ा होकर सुना सकता है और जो व्यक्ति बोलना नहीं सीखता वो व्यक्ति जो है वो नहीं सुना सकता एक रोचक घटना सुनाता हूं बीच बीच में आप आलस्य न आए हम गुरुकुल में रहते थे पढ़ते थे तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन एक बार या दो बार वाक वृद्धनी सभा होती थी वाक वर्धनी सभा तो वो सभा होती थी हमारे बोलने के संवर्धन के लिए हमको बोलना सिखाते थे तो पंद्रह दिन में लगभग या महीने में लगभग विद्यार्थियों के आधे आधे नाम आ जाते थे आधे विद्यार्थी इस अमावस्या को या फिर आधे पूर्णिमा को हमारे नंबर आते रहते और तो एक विद्यार्थी की वो सुनाता हूं रोचक बात तो जो प्रबंधक थे बड़े विद्यार्थी के ये ऊंचे प्रभु जो सबकी व्यवस्था करते थे उनका नाम वेदव्रत था उसका नाम दूसरा था तो कहेंगे भाई वेदव्रत है मेरा जो नाम आप भाषण में रखते हो तो शीतकाल में तो रख दिया करो पर गर्मी के दिनों मत रखना मेरा भाषण उन्होंने कहा क्या बात है बात क्या है गर्मी में तो पहले गर्मी और फिर पसीनम पसीना अच्छा ठंड में शीतकाल में इलाज होता है तो मेरा ज्यादा दूर हो जाता है ठंड दूर हो जाती है इसलिए वजन रखा गया अब व्यक्ति जब खड़ा होता है तो बिना ही बिना ही बातचीत के पसीना आने लग जाता बात नहीं चीत नहीं या मुंह सूख जाता है पानी पीना पड़ता है क्या एक लेखक ने ऐसे बोलने वालों की अवस्था का वर्णन किया पुस्तक का नाम है भाषण संभाषण उसका मैं थोड़ा सा भाव सुनाता हूं कहते हैं कि सभा में बोलना आसान नहीं है पहले तैयारी करनी पड़ती है उसने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाला व्यक्ति तैयारी भी करता है जाता है मैं कुछ बोलूंगा परंतु जो जैसे जैसे समय आता जाता है जाने का खड़ा होने का उसके प्राण सूखते जाते और वो कहता है हे भगवान आज मुझे पुलिस के सिपाही पकड़ के कारागार में डालने तो अच्छा है बोलना नहीं पड़ेगा मुझे पहले पहले पकड़ के ले जाए फिर कहता है लेखक हे धरती माता तू फट जा मैं तेरे अंदर समा जाऊंगा मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कई बार हम जो इनसे पूछते हैं ना वो देखते रहते किसका नंबर आने वाला है कहते मेरा नहीं आ जाए वो इधर उधर खिसक जाएगा ये दोष रहेंगे ये दोष है व्यक्ति को अच्छा पढ़ाना आना चाहिए अच्छा बोलना आना चाहिए अच्छा लिखना आना चाहिए अच्छा प्रवचन देना चाहिए और अच्छा आचरण करना आना चाहिए ये बातें सब आएंगी जब व्यक्ति अपने आप में अच्छा बना माना जाएगा पहले पहले डर लगता है सबको नहीं लगता ये दोष आता है कि पहले माता पिता आदि बच्चे को बोलना सिखाते हुए ये दोष वहां से शुरू होता है छोटे बालक बालिकाओं को माता पिता सिखाते नहीं नहीं सिखाने से ये दोष आता है पांच वर्ष के बच्चे हमने देखे आठ सात वर्ष के बच्चे लाख व्यक्तियों में खड़ा कर दो आप उसको वो बड़े से बड़ा वक्ता की तरह बोलता चला जाएगा घबराई ही उसको सिखाया है कुछ संस्कार भी आते हैं पहले जन्म के वो कुछ सिखाया जाता है आप कम से कम अपनी बात को कहना सीखोगे बोलना सीखोगे धीरे धीरे आप बहुत अच्छे बोलने वाले बन जाओगे यदि आचरण ठीक है आपकी विद्या अच्छी है बोलना आपने सीखा है तो लाखों लोगों को प्रभावित कर देंगे आप ये पिछले दिनों जब ये निर्वाचन का काल था ना एक वो रीतम बराराम की लड़की थी और कई बोलती थी तो आपने देखा उनके प्रवचन सुने आपने सुने है ना कैसे तूफान मचा देती थी अब आप भी ऐसा कर सकती हो आप भी ऐसा कर सकते हैं तो ये एक ऐसे काम है कि इनको सीखना चाहिए आप रुचि करो मन में भावना बनाओ हम बोलना सीखेंगे हमको खड़ा होकर बोलना आना चाहिए तो आप धीरे धीरे बोलना भी सीखेंगे इससे ये लाभ होगा दूसरी बात आप याद रखिए जो आप पढ़ते हैं और उस पाठ की तैयारी करते हैं लिख करके तैयारी करते हैं उसको दोहराते हैं दूसरे को सुनाते हैं तो संस्कार बन जाते हैं विद्या के संस्कार बनते हैं अंदर वो अंकित होती है बातें वह संस्कार बने हुए वो कालांतर में वर्षों तक आपको उस विद्या को भूलने नहीं देते दो बार है और यदि ऐसा नहीं करते तो संस्कार नहीं बनते अंदर विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता तो व्यक्ति जाते जाते भूल जाता है और फिर जो घरों में जाएगा दूर दूर जाएगा भाई हरियाणा के लोग तो मैं एक हजार किलोमीटर के लगभग गए क्या सीख किया है यदि तैयारी नहीं की हो तो क्योंकि अशोक जी आप तो मथुरा जी वहां से आए हैं एक व्याकरण वाले एक ए, क्या कहते हैं व्यंग्यात्मक भाषा बोला करते हैं व्याकरण वाले उसका नाम है खय सूची खय सूची बोलते हैं उसको खय कहते हैं आकाश को प्रश्न पूछने पर आकाश की ओर देखने वाला क्या बन जाओगे आप भाई मथुरा से आने वाले फरीदाबाद से आने वाले सोनीपत से आने वाले आर्यवन विकास में क्या क्या सीखा और वो यो करेगा है सूची आकाश की ओर देखेगा वो वे क्या अब देखो उसमें हम भी बदनाम बुराई हमारे ऊपर आ गई वो मामूर वहां बैठे इनको क्या सिखाया प्रबंधक भी बदनाम आर्य समाज के ऊपर भी धब्बा लगेगा आर्य समाज के लोग ऐसे ही बैठते आप ये देखो ये दोष कहां तक प्रभाव करता है अब लाखों रुपया खर्च करें एडी से चोटी तक का जोड़ लगाएं और आप इस विद्या में थोड़े से भी निपुण में हो तो कितना बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है इसलिए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को बल लगा देना चाहिए हम गुरुकुलों में पढ़ते थे कुछ भी समय नहीं मिलता था परंतु परीक्षा में पहले पहले बहुत प्रगति कम थी पर आगे चलकर के हमने परीक्षा में इतनी प्रगति की यदि हमको एक दो दिन दे दिया जाए एक पुस्तक के लिए और कहा जाए कि इसकी परीक्षा दो एक दो दिन में उस पुस्तक की जो कि हम पढ़ सकते हैं अच्छी तरह थोड़ा सा उसकी दूसरे तीसरे दिन परीक्षा देंगे अनुत्तीर्ण नहीं होंगे इतना प्रयोग किया हमने और पहले लिखना कितना कठिन लिखना कितनी आ, कितना वो लगता था कि पता नहीं क्या लिखना होगा कोई भी कार्य अभ्यास करते करते प्रगति होती है विकास होता है अच्छा जो पुरानी साधक हैं आप में से उनके विशेष काम है पुरानी साधकों के दो बार तीन बार चार पांच बार आ चुके हैं उनको अब अध्यापक के रूप में बदलना चाहिए अपने आप को शिक्षक के रूप में बदलना चाहिए अर्थात अच्छी प्रकार से लिख करके अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण लेकर के सारी चीजें अपनी जमा करके फिर उन्होंने गांव और नगरों में शिक्षण शिविर लगाने चाहिए अपने ढंग से यदि हम ऐसा करेंगे तो हजारों लोगों को हम सिखा देंगे और हम कहां कहां जाएंगे ऐसे कहां से आएंगे ऐसे लोग तो कहां जाएंगे तो प्रचार तो कहीं होना नहीं ऐसे आपने ब्रह्मा कुमारी देखी ऐसी ही तो लड़कियां होती हैं लगभग और इनका प्रचार प्रसार देखो आप कल्पना नहीं कर सकते दक्षिण में चले जाइए वहां पर कर्नाटक में चले जाइए वहां विद्यालय चलते मिलेंगे आपको ईश्वर चलिए राजस्थान में तो केंद्र है ही है हरियाणा दिल्ली चले जाइए गुजरात में चले जाइए भारत के किन्नी कोने को हम नहीं कह सकते अब पचास वर्ष का मत है ये लगभग पचास वर्ष जो हुए और विशेष रूप से पुरुष भी भाग लेते हैं और लड़कियां ऐसे पढ़ी लिखी होती है ऐसी तैयारी करवाते हैं उनको अध्यापिका शिक्षित शिक्षिका बना देते हैं और वो गांव और नगरों में लोगों को बिल्कुल प्रभावित करती है माताओं को अपने उसमें ले जाती है अब ये है कोई योजना नहीं बनाती तो यहीं बैठी रहेंगी ये कोई जीवन नहीं है नहीं उद्देश्य और लगन नहीं है कोई उद्देश्य नहीं कोई लगन नहीं कोई तप नहीं जब उद्देश्य लगन तप नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका उद्देश्य है पुत्र का भी वहां करो पुत्री का भी वहां करो एडी से चोटी तक का जोड़ लगाते हैं एक लाख के स्थान पर दस लाख खर्च होता है उसका उद्देश्य बना रखा उसने जो किसी का उद्देश्य ही नहीं है वो परिश्रम करता ही नहीं तो वो काम अपने आप नहीं होते किसी ने एक व्यंग्यात्मक भाषा बोली थी विदेशी ने बताते हैं वो भारत में आया और भारत की व्यवस्था देखी राजनीति देखी सामाजिक अवस्था देखी तो उसने क्या व्यंग्यात्मक भाषा बोली वो कहता उसे पूछा गया कि आपने क्या अवस्था देखी भारत में वो कहता है भगवान ही भारत का रक्षक है हाँ। <laughs> मुझे भगवान में विश्वास हो गया कि भगवान ही भारत का रक्षक है कोई व्यवस्था नहीं है इसमें <laughs> मखौल है इसमें भला ऐसी ऐसी बात हम सुने कुछ दिमाग में जाने दो अंदर यहां आते हो तो कुछ बैठ करके अंदर जाने दो अंदर यदि आपको नहीं जाता तो बदल नहीं सकते आप यहां सोचने का ढंग विचारने की विद्या वो सीख लेनी चाहिए आपको पता रहना चाहिए मैंने जो ये कार्यक्रम अपनाया था और जिस समय मैं सोचता था क्या करना चाहिए 22 वर्ष की लगभग अवस्था में एक कक्षा मैंने पढ़ी नहीं और कोई मेरे साथ में साधन नहीं कोई सहयोगी नहीं कोई उत्साह देने वाला नहीं और ये कहते थे लोग पढ़ाई का समय निकल गया है अब 22 वर्ष की अवस्था में कोई पढ़ाई होती है क्या मैंने कहा नहीं मास्टर जाई से ये पढ़ के रहूंगा इसको पढ़े हुए मैं कभी भी नहीं सांस ले सकता आप कल्पना करेंगे मौत की जैसी स्थिति हमारी बनी रहती थी तब भी उस चीज को कर डाला जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे लोग और इसके साथ जोड़ दो उपासना को योगाभ्यास को तो फिर तो व्यक्ति डरता ही किसी से नहीं मौत से भी नहीं डरता संसार से तो डरने की बात ही क्या है ये करने से होता है जो अध्यापक हमारा मखौल लगाते थे वो आज अध्यापक हमको कुछ पढ़ा लिखा मानने लग गए मखौल कैसे उठाते थे पता है बहुत बुरी दृष्टि से नहीं हंसते हैं ना जैसे लोग अब मेरी आंखें ऐसे रहती बंद लगभग रखता था और पाठ में भी थोड़ा थोड़ा ही देखता था वो कहते देखो ये क्या पढ़ेगा ये ये क्या विद्वान बनेगा ये रहा है यहां खुली है या क्या इसका क्या है ऐसे होता था वो सारी कथा मैं नहीं सुना रहा पर ये कार्य करके देखे हैं और करवाए हैं लोगों से आप तो सोचने का ढंग बदल दीजिए विचार करने की शैली को बदलिए ये सोचने का ढंग पद्धति बिल्कुल अशुद्ध है गलत है भारतीयों की प्राय एक आध व्यक्ति को छोड़ो वो विचारने का ढंग ही उसका गलत है अब आप ध्यान देंगे तो सब बातें समझ में आएंगी और आप यदि ध्यान नहीं देते तो ये सारी सुनी सुनाई बातें पूरी याद रहेगी नहीं सारी भूल जाएंगे आप या तो लिखिए इनको सुनना मनन करना फिर बार बार प्रयोग करके देखो इन बातों का तो कालांतर में आपकी पद्धति शैली बदल जाएगी ये पद्धति अच्छी नहीं लगेगी आपको परिश्रम करना आपको अच्छा लगेगा आगे बढ़ना आपको अच्छा लगेगा परोपकार करना आपको अच्छा लगेगा और ये देश जाति की भयंकर जो अवस्था है पतन है ये इसका सहन नहीं कर सकेंगे आप अब सभी बैठे करोड़ों लोग भारत का विनाश हो रहा है आज पर हाथ धरे बैठे हैं आप अपने घर की सोचते हैं ये सहन नहीं कर सकता व्यक्ति ठीक सोचने वाला विचारने वाला तो ये बातें मैंने आपको सारी की सारी ये सोचने का ढंग ये पद्धति आप रखिए और ऐसे चलिए अम्र विचार भरे हुए होते हैं व्यक्ति के मन में वो सोचने का ढंग 20 वर्ष से 50 वर्ष से कोई 15 वर्ष से विचारता चला आया सोचता चला आया तो वो आज तक यहां आ गया अब वो पहले की परंपरा को छोड़ना नहीं चाहता और ऋषि ने लिखा कि सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में उदित रहना चाहिए ये ऋषि ने लिखा मनुष्य वही कहलाता है सर्वथा सर्वदा सत्य के ग्रहण करने सत्य के छोड़ने में उदित रहता है और वो बदलता बहुत जल्दी है अर्थात शीघ्र ही मोड़ देता है और प्रगतिशील हो जाता है और जो ऐसी इस नियम का पालन नहीं करता उसको कोई नहीं बदल सकता दुनिया ये विविध बातें मैंने सुनाई ये सभी के लिए है अब प्रकरण चल रहा था उसमें से थोड़ा सा भाग लूंगा मैं गुरु शिष्य ये परंपरा वैदिक परंपरा प्राय आज लुप्त हो गई तो इस परंपरा में हम कैसे लाभ उठाए विधि पूर्वक प्राय व्यक्ति परीक्षा पूर्वक प्राय व्यक्ति किसी को गुरु बनाना नहीं चाहता उसको ये डर लगता है प्राय कि मैं किसी को गुरु बनाऊं तो लोग क्या कहेंगे आपको भी लगता होगा किसी को या नहीं लगता है जी आत्मनिरीक्षण कर लो सबकी बात नहीं कर रहा अच्छा आप है साठ वर्ष के है जी और विवेक जी इतने के हैं पति है तैतीसवां चल रहा है और इनके सामने आगे बैठे आप कहते क्यों बैठे मैं पढ़ने आया हूं विद्यार्थी हूं अब साठ वर्ष का बूढ़ा सत्तर वर्ष का बूढ़ा बाई बाई देखने लग जाए कि कोई मुझे क्या कहेगा इसके सामने बैठा है क्योंकि लगता है ना डर है वो व्यक्ति डरता है परंतु गुरु शिष्य के विषय में ऋषियों की परंपरा है मनु महाराज का एक श्लोक भी आता है कि भाई सुनो एक विद्यार्थी है अर्थात बारह वर्ष का भी क्यों ना हो तेरह चौदह का भी लगा लो वो बहुत बड़ा अच्छा विद्वान है इतनी छोटी अवस्था और एक अस्सी वर्ष का बूढ़ा उसको उसे पढ़ने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है कोई बुराई नहीं है अजय बहुत ही हुई बाल है पिता बहुत ही मंत्र है अज्ञे है वो अस्सी वर्ष का बूढ़ा तो बालक है और जो पंद्रह वर्ष की अवस्था में अच्छा बुद्धिमान को पढ़ाता है वो पिता माना जाता है ये परंपरा होती है पर बीच में एक शंका उभरती है तो उसका ध्यान दिला देता हूं उसको बार बार सोची परंतु हम गलत गुरु परंपरा को नहीं मानते अशुद्ध गुरु परंपरा को नहीं मानते इसमें शुद्ध गुरु परंपरा को मानते आर्य समाज के ऊपर आक्षेप करते हुए लोग कि आर्य समाज गुरु परंपरा को नहीं मानता वस्तुतः ये जो लोग कुछ होते ना बिगड़ी बुद्धि वाले वो आर्य समाज को बदनाम कर देते आर्य नाम रख देंगे व्यवहार उल्टा होगा महर्षि दान सरस्वती ने स्वीकार किया सभी मानते हैं कि गुरु परंपरा विशुद्ध है और होनी चाहिए ब्रह्म विद्या के प्रकरण में एक बात आई सत्यार प्रकाश पंचम सुमल्लास ऋषि के भाव को सुनाता हूं जो व्यक्ति योगी बनना चाहता है योग विद्या सीखना चाहता है ब्रह्म विद्या सीखना चाहता है वह वेद के जानने वाले जानने वाले विद्वान गुरु के पास में समित पानी भूतवा जाए श्रद्धा से कुछ लेके जाए अथवा ही लेके जाए ब्रह्म विद्या को जानने वाला वेद को समझने वाला व्यक्ति जो सच्चा गुरु उसके पास में जाए श्रद्धा पूर्वक जाए कुछ लेके जाए खाली हाथ नहीं जाए तो गुरु परंपरा ऐसी मानी जाती है इसलिए ये जो गुरु परंपरा जो आजकल प्राय दूसरे मतों में चलती है उसमें अनेक दोष हैं उसको हम भी नहीं मानते परंतु सच्ची गुरु परंपरा को आप छोड़ बैठेंगे तो ये विद्या का लोप हो जाएगा उन लोगों में जो भूले हुई हैं उसमें से एक भूल आपके सामने रखता हूं उन लोगों की गुरु परंपरा में क्या त्रुटि आ गई एक त्रुटि उन्होंने कहा कि ईश्वर से गुरु बड़ा होता है और एक वो दो भाषा सुनाते हैं क्या है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पांव क्या पाठ है और ये ये दोहा बोलते हैं एक क्षेत्र तक ये अच्छा जचता है ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई गुरु जो है वो मार्ग को बताता है ये तो बिल्कुल ठीक बात है अच्छी बात है हम भी सहमत हैं गुरु जो है किसी विषय को पढ़ाता है तो मार्ग दिखा देता है इसमें कोई मतभेद नहीं है परंतु जहां ये तुलना करने बैठते हैं ईश्वर की और गुरु की ये बिल्कुल बिना सरपैर की बात है ईश्वर की विद्या ईश्वर का बल ईश्वर का आनंद ईश्वर का सामर्थ्य इतना अधिक है इतना अनंत है सारे संसार के गुरुओं को भी इकट्ठा कर दो तो उसके सामने कुछ नहीं है ये गुरुओं का तो बल विद्या सामर्थ्य इतना ही है तुलना जहां पर प्रसंग आता है तुलना करो गुरु बड़ा या ईश्वर बड़ा तो वहां पर यह भूल हुई उन्होंने गुरु को जो है बड़ा मान लिया और हेतु क्या दिया क्योंकि वो भगवान तक पहुंचाता है ईश्वर के की प्राप्ति में वो हमारा मार्गदर्शक है इसलिए हम गुरु को बड़ा मानते हैं हम इसका दृष्टांत देकर दूसरे ढंग से समझाते हैं राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे होंगे डेढ़ सौ है तीन सौ कितने होंगे अच्छा अच्छा कल्पना करते हैं हम उन कमरों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अथवा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति से मिलाने के लिए वहां चौकीदार खड़ा रहता है उसको वेतन मिलता है और किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं राष्ट्रपति के कमरे में जाना चाहता हूं वो कमरा कहां से कहां कैसे जाऊंगा आप मुझे मिला दीजिए तो चौकीदार ने वहां उस पहरेदार ने उसको व्यक्ति को राष्ट्रपति जी का मार्ग बताया राष्ट्रपति के कमरे का नंबर बताया और वो पहुंच गया तो ये निश्चित बात है कि वो चौकीदार पहरेदार मारक दर्शक है पर वो चौकीदार बड़ा हो या राष्ट्रपति बड़ा है है जी बोलो क्योंकि राष्ट्रपति जी को तो इसने मिलाया राष्ट्रपति बड़ा कैसे हो गया राष्ट्रपति जी को जी से मिलाने वाला ये व्यक्ति है पहरेदार या फिर भी ये पहरेदार बड़ा होना चाहिए राष्ट्रपति से अब इसको ऐसे जानना चाहिए भाई ठीक है कि चौकीदार के हम जो कृतज्ञ हैं परोपकार उन्होंने किया इसमें कोई मतभेद नहीं पर ये बताओ चौकीदार राष्ट्रपति के सहारे से रहता है या राष्ट्रपति चौकीदार के सहारे से रहता है चौकीदार के पैर खड़े हैं वो उसके ऊपर खड़ा है बेचारा गुजारा करता है मुश्किल से उसे सहायता मिलती है इसी तरह जीवात्मा बेचारा चौकीदार है जी ये बड़ी मुश्किल से आंख नाक भगवान तो देता है जब देख सकता है कान देता है तो सुन लेता है टांग देता है तो चल देता है आप बताओ ये बड़ा कैसे बन जाएगा दूसरा दोष इसके साथ ये आएगा कि जब गुरु को बड़ा मान लिया जाता है तो ईश्वर गौण हो जाता है ईश्वर का परित्याग हो जाता है ईश्वर की ओर आकर्षण ही नहीं रहता वो व्यक्ति दौर्भाग्यशाली बन जाते हैं क्योंकि ईश्वर के दर्शन ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है व्यक्ति अयथा योग्य व्यवहार है उनके दिमाग में भी ये संस्कार बन जाते हैं गलत बात सुनने से गलत बात मानने से गलत बात पढ़ने से गलत संस्कार बनते और वो संस्कार अज्ञान को पैदा करते रहते याद रखिए आप एक व्यक्ति चले गए राधा स्वामी वाले में आर्य समाजी थे वो और उन्होंने वहां पर शिक्षण लिया उन्होंने सिखाया गुरु जी का चित्र देखा करो ऐसे ध्यान में बैठ के गुरु जी का चित्र ये चित्र है ये देखा करो वो देखते रहे बरसों तक देखते रहे देखते रहे देखते रहे अब बहुत अच्छा अभ्यास होगा चित्र देखने का जब भी ध्यान में बैठे गुरु जी का चित्र दिखे आप मन करके जब भी ध्यान में बैठे गुरु जी का चित्र दिखे अब खूब अच्छा चित्र ही दिखता रहे तपोबंदे राधोल में मुझसे पूछने लगे स्वामी जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं मैंने ये चीजें सीखी है वहां और मैं ऐसा करता हूं कि झट से गुरु जी का दर्शन हो जाता है चित्र के माध्यम से क्या ये ठीक है या मैंने कहा आपने तो अपना सारा विनाश कर लिया उस गुरु जी के चित्र देखने से आपको क्या मिलता है मुझे बताओ फिर कहते क्या करूं एक उल्टा संस्कार बन गया अब वो खूब बलपूर्वक यदि उस संस्कार को हटाना चाहेगा तो दस पंद्रह वर्ष के साथ इसमें लग जाए गुरु जी के चित्र हटाने में क्योंकि वो तो आगमन करेगा चित्र दिखाई देगा संस्कार जी होते नहीं होते क्या जी एक व्यक्ति की रोचक कथा सुनाऊं एक व्यक्ति चोरी करता था फिर बन गया वो सन्यासी साधु और ऐसे मंडली घूमती थी जैसे हमारी मंडली घूमती है कई बार और वो चोरी छोड़ दी सन्यासी बन रात को सो जाते और गुरु जी भी सो जाते और रात को उठता उसका कमंडल उसके सिराने उसका कमंडल उसके सिराने उसका पात्र उसके सिराने उसका पात्र उसके सिराने रख देता हूं तो रख देता तो गुरु जी कहते भाई ये क्या बात है कि मेरा पात्र मेरा कमंडल वहां रख दिया यह कौन करता है वो तो गुरु जी मैं करता हूं कि क्या बात है मेरी चोरी करता था वो चोरी छुटकी मेरे हेरा गोरी नहीं छुटकी उसको चैन नहीं मिलती जब तक वो ऐसे ऊट काम नहीं करता ये व्यक्ति के संस्कार बिगड़ते हैं और वो संस्कार बिगड़ जाते हैं वो अज्ञान को पैदा करते हैं यदि गुरु जी का चित्र आने लग गया तो जितना जोर लगा लीजिए वो उसका हटना बिल्कुल इतना कठिन हो जाएगा साथ ही इस जन्म में ना जाए ये जो छोटे छोटे बच्चे को सिखाते हैं चतुर्भुज इतना लंबा चौड़ा ये भगवान है भगवान कहा रहता है मंदिर में रहता है पद ये रट्टा लगाता है भगवान कहा रहता है मंदिर में रहता है फिर होगा युवा फिर कहता भगवान मंदिर में रहता है अब वो बूढ़ा हो जाएगा अस्सी वर्ष का वो उस मूर्ति से अधिक भगवान को नहीं मानने के लिए तैयार रहे मानने के लिए तैयार नहीं होगा यार रखिए आप एक वृद्धा माता देखी साठ सत्तर वर्ष की मध्य प्रदेश में मैं चला गया मंत्री उसका बेटा आर्य समाज का और वो जो तांबे की मूर्तियां होती है इधर उधर फलाने की इसकी उसकी वो रख रखी और वो माता जी सब कुछ होते हुए भी उन मूर्तियों को ऐसे सजाए और उनकी वजह ही पूजा पाठ ऐसे कर रही मैंने कहा माता जी आपका बेटा आर्य समाज का मंत्री और आप इन मूर्तियों की पूजा क्यों करती हो ये तो कोई भगवान तो नहीं है वो कहते महाराज जी क्या करूं आदत तो ऐसी बन गई है इनको जब तक ना पूजू मेरी कोई शांति मुझे नहीं मिलती ये संस्कार दोष है ये लोग कहा करते हैं ना भाइयों सुनो आकृति बना लो बड़ा ध्यान लगेगा पहले पहले साकार में ध्यान करना चाहिए पहले पहले वो साकार में ऐसा ध्यान करेगा सारा का सारा भगवान का जो आनंद है वो खो बैठता है तो ये जो संस्कार है व्यक्ति के इस रूप में बनते अब ये चालाकी क्या है उन लोगों ने लोगों को लूटने का ढंग निकाला और पता नहीं क्या क्या निकाला ये लोग एक सिद्धांत बनाते हैं कि देखो गुरु बड़ा है गुरु महान है और गुरु की बात मानो और फिर आगे चल के इन्होंने एक नियम बनाया गुरु जी के समर्पण हो जाओ समर्पण का अर्थ हमारे भी है यहां ये तो ठीक है वो समर्पण की सीमा है आज्ञा का पालन करो धर्म के अनुसार चलो गुरु